हमारे पास ये चार इंस्ट्रूमेंट हैं और चार ही लोग हैं तो आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग हमारी हौसला अफजाई करेंगे और जो हमारा संगीत है उसको सुनेंगे हरिया संतों ने कहा है कि स्वर है शक्ति ईश्वर की हर सुर में बसे है राम स्वर है शक्ति ईश्वर की हर सुर में बसे है राम हर सुर में बसे है राम हर सुर में बसे है राम हर सुर में बसे राम हर सुर में बसे हैं राम राम हर सुर में बसे हैं राम हर सुर में बसे रागी जो सुनाए रागिनी रोगी को मिले आराम रोगी को मिले आराम तू ही तू ही तेरा नाम सही तू ही तू ही तेरा नाम सही और तेरा नाम सही और तेरा नाम सही तेरा नाम सही तेरा नाम सही पत्थर में कीड़ा बसे तुमने उसकी खबर लाई पत्थर में कीड़ा बसे तुमने उसकी खबर लगी तुमने उसकी खबर लाई मनुष्य बहुत बड़ा डरपोक है ईश्वर ने मनुष्य से वादा किया है कि मैंने तेरे लिए बहुत कुछ बनाया धरती पर तेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं तेरे लिए अच्छे अच्छे फल बनाए हैं तेरे लिए अच्छी अच्छी दालें बनाई हैं तेरे लिए अच्छे अच्छे फूल बनाए ऐसी रचना की है कि तू हर दिन एक नई चीज खाएगा हर दिन एक नई चीज देखेगा तो भी पूरी जीवन में देख नहीं पाएगा इतना कुछ बना दिया तेरे लिए लेकिन आजकल पूछते हैं तो हर आदमी ये बोलता है समय नहीं है हमारे पास क्या कर रहे हो अभी काम पे जाना कौन सा काम है एक गृहस्थी का काम है कुछ दुकान में जाना है या कहीं कपड़े की दुकान है वो मालिक भी सोचता है मैंने इसके लिए क्या क्या किया है और ये इसके पास समय ही नहीं है कुछ मेरे लिए संत कहे संत कहे संत कहे संग्राम हाथ में हीरा आया हीरा नाम क्योंकि मनुष्य हर वक्त उसको कोई माया का एग्जाम्पल दिया जाए तो वो बहुत प्रेरित होता है मनुष्य को अगर हम माया का कोई भी एग्जाम्पल देते हैं तो बहुत प्रेरित होता है और उसको जल्दी असर हो जाता है उसका तो एक संत है हमारे संग्राम जी उन्होंने एक लिखा है कि संत कहे संग्राम हाथ में हीरा आया यानी कि तुम्हारे पास में ये जो सांस आ रहा है जा रहा है उसकी एक एक सांस की कीमत उन्होंने आंकलन किया एक एक हीरे से कि ये एक एक सांस तुम्हारा एक एक हीरे जैसा है संत कहे संग्राम हाथ में हीरा आया और दिया मूरख रे हाथ बंदे लगमा दिया मूरख रे हाथ बंदे एड़ा गमा गमावत गमावत गमा दिया जद हीरो रह गयो एक सारे सांसों को खो दिया और जब लास्ट में आखिरी समय आया गमावत गमावत गमा दिया जद हीरो रह गयो एक आयो हीरा रो पारकू तो रोयो माथो टेक जब ज्ञान हुआ जब मनुष्य को ज्ञान हुआ अंतिम वक्त में कि अरे मैंने क्या खो दिया इस जीवन में उस वक्त उसकी आंखों में पानी आने लगा कि मैंने ये जो मेरे सांस थे बहुत कीमती थे और ये पता नहीं दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उनको मैंने ऐसे खो दिया कि उनकी कोई कीमत भी नहीं समझी मैंने कमावत कमावत कमा दिया जद हीरो रह गयो आयो हीरारो पारकू तो रोयो माथो टेक रोयो माथो टेक एड़ा में गणई गमाया संत कहे संग्राम हाथ में हीरा राम नाम भजियो नहीं राम नाम भजिया नहीं नहीं कियो हरी से हेत नहीं कियो हरी से अब पछता है क्या हुए जद चिड़िया चुग गई खेत चिड़िया चुग गई खेत लारे अब रेत रही राम नाम भजियो नहीं तो संता सच कही संता कह दी सा चली दृढ़ विश्वास करो राम नाम प्रताप सु तो बेकूटा में बास करो हेरी मन कुल मौला हेरी मन कुल तारा दिल तारे दानी ए ओम तो ओम तारा ये हमारे थे अमीर खुसरो साहब उनकी एक धमार थी अभी आपके सामने मैं कबीर सुनाऊंगा कबीरा इस संसार में कबीरा इस संसार में और भांति भांति के लोग कबीरा इस संसार में और भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल छाली नदियां व कबीरा कबीरा क्या करो अरे कबीरा कबीरा कबीरा कबीरा कबीरा कबीरा कबीरा कबीरा कबीरा क्या करो अरे सोचो आप शरीर पांचू इंद्री बस में करो वो ही दास कबीर कबीरा जब हम पैदा हुए अरे कबीरा जब हम पैदा हुए ये जगह से कबीरा जब हम पैदा हुए ये जगह से हम ऐसी कर ली कर चलो हम हंसे जगह कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए ये जग हंसे हम रोए जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है और घर के पूरे परिवार के लोग पूरे गांव के लोग पूरे शहर के लोगों के दिल में हंसी होती है खुशी होती है कि अरे भाई आज तो फलाने के घर में बच्चा पैदा हुआ है और लड़का पैदा हुआ और वो बच्चा रोता है कि ये मालिक मेरे को कहाँ भेज दिया तू इस कलयुगी संसार में वो चिल्लाता है कि पता नहीं मैं कौन से रास्ते पे चलूंगा जिस रास्ते के लिए तुमने भेजा उस पर चल पाऊंगा या नहीं चल लेकिन बहुत बहुत मुश्किल लोग होते हैं वो उस रास्ते पे चलते हैं स्वामी जी जैसे लोग हम जैसे जो लोग हैं वो उस रास्ते पे जिस रास्ते की हमें जिम्मेदारी दी जाती है जिस रास्ते के लिए हम आते हैं उस पर नहीं चल पाते और हम ये संसारिक जंजाल में आके फंस जाते हैं और अपने आप को ही भूल जाते हैं तब कबीर ने कहा कबीरा जब हम पैदा हुए ये जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए अगर कोई ऐसा काम करके जाए ताकि लोग पीछे याद करें और लोग लोग उस खुशी को पा पा के खुश हो नहीं कि कम से कम दुखी हो जाए लोग तो कबीर ने इस शरीर रूपी चादर पे एक भजन लिखा ये एग्जाम्पल चादर का है लेकिन पूरा इस शरीर पे ये एग्जाम्पल है कि चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी ये चादर जो बनाई गई है एक राम नाम से इसको रंगा गया है इसमें ऐसा रस भरा गया है लेकिन कैसे लिखा इस कबीर ने कैसे सोचा है पता नहीं लेकिन बहुत ज्ञान की बात है और पता नहीं उस वक्त कबीर कहाँ होंगे जिस वक्त ये भजन लिखा होगा अरे चतरिया जी नीरा जी अष्ट कंवल दल चरखा चाल पांच तंतों की अष्ट कमल दल चरखा चाल पांच तत्वों की पूरी अरिनो दस मास पुनन कला बुनन को लागे तिल बुनी बुन बिनी रे चचरिया चीनी रे जी कमल चल दल चरखा चाले पांच तंतों की पूनी नौ दस मास बुनन को लागे ये तीन गुनी बुन दिनी ये हमारा शरीर है ये हमारी आत्मा है ये तीन गुण से कभी बाहर नहीं जा सकती सतोगुण तमोगुण और रजोगुण ये तीन गुण है इस तीन गुणों में इसको ढाला गया है आगे क्या है जद मोरी चादर भन घर आई खुबियन के घर जद मोरी चादर बन घर आई धुबियन के घर नीरे चादरिया धुबियन के घर नीरे चादरिया धुबियन के घर दिली राम नाम के लगे मोगी राम नाम के लगे माग रे इस विद निर्मल की चदरिया जीनी रे जीनी नाम आजकल लोग नर्स बोलते हैं पहले बोला जाता था दाई माँ जब बच्चा पैदा होता था तो वो दाई माँ उस बच्चे को नहलाती थी और उसके मन में जो खुशी होती थी उस वक्त वो खुशी जो उस बच्चे को महसूस होती थी वो आजकल नर्स के नाम में बदल गई है लेकिन वो जो हमारा बचपन का जो पहला अनुभव है वो जो नहाने का पहला अनुभव है वो हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते वो जिंदगी में एक बार ही मिलता है इंसान ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੇ ਲਗੇ ਮੋਗ ਰੇ RAM ਨਾਮ ਕੇ ਲਗੇ ਮੋਗ ਰੇ ਇਸ ਫਿਤਨੀ ਵੇ ਮਲਕੀ ਰੇ ਸਦਰੀਆ ਜੀਨੀ ਰੇ ਜੀਨੀ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਦਿਨ ਰੇ ਸਦਰੀਆ चादर धूप तैयार भाई जब रंग जन को चादर धूप तैयार भाई जब रंग जन को रंग रे जन को धीरे रंग रे जन को दिली चादर को धोया गया अभी उस चादर को रंग चढ़ाना है तो रंग चढ़ाने के लिए कौन गुरु होता है जो उस चादर को रंगता है और हम कोई गलती कर लेते हैं तो बोलते हैं गुरु ऐसा ही इसीलिए इसको अक्ल नहीं लेकिन नारद मुनि के गुरु कालू कीर थे जिन्होंने नारद मुनि को भवसागर से तार दिया तो गुरु कभी अपने शिष्य को गलत ज्ञान नहीं देता है चाहे कैसा भी हो गुरु तो अब देखो गुरु कैसा रंग चढ़ाता है उस पर चादर धूप तैयार भाई जब रंग रे जन को दीनी रे सदरिया रंग रे जन को दीनी ऐसा रंग रंगा रंग रे ऐसी तू रंग दे के रंग ना ही छूटे धोबिया धोवे जाए सारी उमरिया लाल ना रंगाऊ मैं तो हरी ना रंगाऊंगी अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी ये शिष्य के लक्षण होने चाहिए जो शिष्य है उसके ये लक्षण होने चाहिए ऐसी तू रंग दे के रंग ना ही छूटे ऐसी तू रंग दे के रंग ना ही छूटे धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया आजकल शिष्यों के पास समय नहीं है वो सीखने के लिए आते और थोड़ा भी कोई गलत शब्द बोल देते हैं गुरु जी तो माँ बाप भी आ जाते हैं और दादा दादी भी आ जाते हैं पूरे परिवार के लोग आके बोलते हैं गुरु जी हमें ये शिक्षा नहीं चाहिए लेकिन गुरु जरूर चेले का इम्तिहान लेता है और अगर वो चेला उस इम्तिहान में पास हो गया तो समझो रंगा गया उसको पूरा रंग चढ़ गया इस दुनियादारी से हट गया वो और अगर वो दुनियादारी में है तो भी नहीं है दुनियादारी उसका मन अलग है उसका आनंद अलग है उसका रहना अलग है उसका खाना अलग है उसकी नजर अलग है उसका खुशबू लेना अलग है उसके हाथ की रंगत अलग है उसकी आवाज की रंगत अलग है उसके शब्दों की जो असर है वो अलग अलग ऐसा रंग रंगा रंग ऐसा रंग रंगा दरिया रे राम रस रे चदरिया रे राम रस रे चदरिया रे अब नंबर आता है इस चादर के हक अधिकार का चादर ओढ़ शंका मत करियो ये दो दिन तुमको दीनी चदरिया दो दिन तुमको दीने चदरिया दो दिन तुमको दीने चदरिया दो दिन तुमको दीनी चादर ओढ़ शंका मत करियो ये दो दिन तुमको दीनी लेकिन हम लोग इस चादर को भूल जाते हैं हम सोचते हैं हम बच्चे हैं तो ऐसे सोचते बच्चे ही रहेंगे और अगर हम जवान हो जाते हैं तो सोचते हम जवान ही रहेंगे और फिर सोचते हम बूढ़े हो जाते तो सोचते हम बूढ़े ही रहेंगे लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि जो एक सच्चाई है जीवन में वो है मरना मौत पर हक है वो आएगी जिन्होंने मौत पे विजय पा ली थी जैसे विषम पिता में उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था लेकिन उनको भी मरना पड़ा तो जीवन की सच्चाई एक ही है कि मरना है वो तय है लेकिन पता नहीं हम किस दिन मरेंगे जवानी में मरेंगे बुढ़ापे में मरेंगे या बचपन में मर जाएंगे वो ईश्वर को पता है और वो बात हम अगर याद रखेंगे तो सत्य पे चल पाएंगे क्योंकि हमें पता है हम मरने वाले हैं तो हम कभी कपट नहीं करेंगे क्योंकि ये पता है ये जिंदगी है किसी की अमानत है चली जाएगी हम हमारे हाथ से क्यों गलत काम करें चादर ओढ़ शंका मत करियो दो दिन तुमको दीनी चादरिया दो दिन तुमको दीनी मूर्ख लोग भेद नहीं जाने मूरख लोग भेद नहीं जाने चदरिया जीनी रे जी मूरख लोग वेद नहीं जाने दाग दगीली नहीं इस इस निर्मल चादर को पता नहीं कितने दाग लगा लेते हैं और जिनकी चादर या चुनरिया में दाग लग जाते हैं उनका वादा झूठा हो जाता है क्योंकि हम ईश्वर से वादा करके आते हैं कि हम संसार में जाएंगे और अच्छे अच्छे काम करके आएंगे तेरा नाम फैलाएंगे और शांति से रहेंगे धर्म पे चलेंगे लोगों को कहीं परेशानी नहीं करेंगे या कहीं दुख नहीं देंगे किसी जीव जानवर जंतु को ये वादा होता है हमारा वहां से लेकिन हम लोग वो सारे भूल कर जब लास्ट आखिरी समय आता है तो ये हमारी चादर चुनरिया एकदम मेली हो जाती है दाग दगीली हो जाती है और लास्ट में जब हम फिर बोलते लागा चुनरी में दाग छुपाऊ कैसे लागा चुनरी में दाग चुनरी में दाग छुपाऊ कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग धागा चुनरी पहना हो गई मेरी मेरी चुनरिया हो गई मेरी मोरी चुनरिया कोरे बदन की कोरी चुनरिया कोरे बदन की कोरी चुनरिया बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग जो पाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग हो गई मेली मेरी चुनरिया हो गई मेली मेरी चुनरिया कोरे बदन की कोरी चुनरिया जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे क्योंकि जो भी वादे करके आते हैं वो हमारा पूरा कर देता है और वो बोलता है आखिरी वादा कोई नहीं है तुम्हारा आखिरी सवाल कुछ नहीं पूछोगे मेरे से आके कि हम वहां जाके संसार में गलती हो गई है उसकी माफी नहीं है जो भी है इस संसार में तुम जो भी करके जाओगे छूट है तुम्हें अगर तुम अच्छा काम करके आओगे उसके लिए भी छूट है अगर तुम बुरा काम करके आओगे तो वो तुम्हारी मर्जी है यहाँ छूट नहीं है वहां छूट नहीं है यहाँ छूट हो सकती है लेकिन उसके घर में क्योंकि पहले से ही बोलता है तेरे लिए सब कुछ कर दिया मैंने जा आराम से जी आनंद से जी शांति में जीवन गुजार के आ वहां पे लेकिन हम शांति में अशांति में जीवन गुजार के जाते हैं और बाद में जाके जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे फिर तो हम नजर मिलाने के काबिल ही नहीं मूर्ख लोग भेद नहीं जाने मूर्ख लोग भेद नहीं जाने जीनी रे चदरिया जीनी रे जीनी हे राम राम रस जीनी रे चदरिया जीनी रे जीनी हे राम नाम रस जीनी रे चदरिया जीनी रे जीनी फिर कबीर ने एग्जाम्पल दिया कि किन किन लोगों ने इस संसार में इस शरीर रूपी चादर को बहुत से लोगों ने ढंग से ओढ़ा है हमारे सामने एग्जाम्पल है स्वामी जी जिन्होंने इस चादर पे इतना भी दाग नहीं लगने दिया और आज उनकी वजह से हम सब एकदम सर ऊपर करके चलते हैं कि हम भारत देश के वासी हैं जहां स्वामी विवेकानंद जैसे संत महात्मा हुए हैं तो ऐसे महापुरुषों ने इस चादर को इतना भी एक बात भी नहीं कर सकते ऐसा भी ना होने दिया अपनी चादर को एकदम निर्मल रखा उस चादर को एकदम पाक पवित्र रखा तो कबीर ने एग्जाम्पल दिया कि जितना भी इस भजन में समाया है ध्रुव पहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुख देने निर्मल ध्रुव पहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया रे अरे चदरिया अरे चदरिया अरे चदरिया अरे चदरिया तू पहला सुधा मैंने ओढ़ी सुख देने निर्मल सुख देने निर्मल दास कबीर दास कबीर दास कबीर यतन कर ओरी दास कबीर यतन कर ओरी दास कबीर में हरे दास कबीर ने दास कबीर यतन कर ओरी जू की क्यों धरतीनी चदरी जीनी रे जीनी है तो इस प्रकार एक कबीर ने हमें समझाया इस चादर के बारे में शरीर रूपी चादर के बारे में अभी एक बुल्ले शाह का कलाम पढ़ रहा हूं बुल्ला की जाना मैं कौन मनुष्य को बांट दिया है कोई मनुष्य बोलता है मैं हिंदू हूं कोई बोलता है मुसलमान है कोई बोलता है सिख है कोई बोलता है ईसाई है लेकिन बुल्ले शाह इस चक्कर में पड़ गए कि पता नहीं मैं कौन हूं हिंदू हूं मुसलमान हूं सिख हूं ईसाई हूं अगर मैं अलग होता हूं मुसलमान से या हिंदू से या सिख से या ईसाई से तो मेरा ये सारा आसमान जमीन में भी फर्क होता मेरे कानों में फर्क होता मेरी आंखों में फर्क होता मेरे खून में फर्क होता मेरे दिल में फर्क होता अगर हिंदू की आंखें आगे होती तो मेरी पीछे होती अगर सिख के इधर कान होते तो मेरे इधर होते कोई फर्क नहीं है पता नहीं क्यों आदमी भ्रम में भ्रमित है फर्क होता तो वो भी फर्क करके भेजता इंसान क्योंकि उसने कितने चेहरे बनाए और सब अलग अलग बनाए तो सब भी कर सकता था कितने चेहरे बनाए लेकिन एक भी चेहरा एक जैसा नहीं कितने पता नहीं उसके पास में संचे हैं ऐसे चेहरे बना देख लो कोई कितने लोग बैठे हैं किसी का चेहरा नहीं मिलता है सबकी आंखों की बनावट अलग है नाक की बनावट अलग है उसके कलर में अलग बनावट है पता नहीं कैसा कलाकार होगा वो और फिर हम यहाँ आके सोच रहे कि हम अलग अलग हैं क्यों तो बुले सर है बुले लोकी मती दें दे, आ बुलिया बैजा विच मसीती बुले लोकी मती दें दे, आ बुलिया बैजा विच मसीती बुले शाह को परिवार के लोग बोलने लगे कि हम ऊपर खानदान के लोग हैं और तुम ये नाच गाना शुरू कर दिया है हमारे खानदान की बेइज्जती होती होती तो घर के लोग बोले मस्जिद में बैठ जा और नमाज पढ़ तो बुल्ले शाह उनको जवाब देते हैं विच मसीता देखी कुछ होता जे दिलू नमाज नानी थी बाहर पाक किते कुछ होता बाहर पाक किते कुछ होता जे अंदरे रही पलीती बिन कामिल मुर्शिद बुलिया एवं गई है इबादत की थी उन्होंने कहा विच मसीदा दे की कुछ होंदा जे दिलू नमाज ना नीति अगर दिल से नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मस्जिद में जाके भी पढ़ेंगे तो कोई काम की नहीं है बाहर पाक किते कुछ होता तुम लोग अपने को आपको बड़ा मान रहे हो सुंदर कपड़े पहने हुए हैं सफेद पगड़ी बांधी हुई है बाहर पाक किते कुछ होंदा अंदर रही पलीती अगर दिल में पलीती है तो बाहर की पाकी साकी कुछ काम की नहीं है बिन कामिल मुर्शिद बुलिया इन्हें गई इबादत की थी अगर गुरु कामिल नहीं है तो कितनी भी इबादतें कर ले गुरु खुश नहीं है तो वहां भी खुश नहीं और गुरु खुश है तो सब कुछ खुश है तो कामिल गुरु करो और इबादत पे लग जाओ नहीं तो आप भ्रमित मत हो बुल्ले शाह ने दिल विच तारी शक्ति वजदी जीवे नाले वजदी खंजरी है बुल्ले नच के यार मना लेना भावे लोग केण भेड़ी कंजरी अगर वो नाचने से भी राजी होता है तो नाचने लग जाओ कुछ नहीं है नियम में कानून में अगर वो खुश होता है कि तू नाच मैं खुश हो जाऊंगा तो शुरू कर दो नाचना लेकिन पढ़े लिखे लोग मना करते हैं इन चीजों को पढ़ पढ़ आलम फाजल बनियो कभी अपने आप पढ़िया नहीं पढ़ पढ़ आलम फाजल बनियो कभी अपने आप पढ़िया नहीं जा जा वड़ पे मंदिर मसीती कभी दिल अपने विच बढ़िया नहीं हर दिन मस्जिद में मंदिर में जाता है लेकिन दिल में कभी नहीं सोचता है दिल में झांकता नहीं है दिल में झांकना जरूरी है जा जा ਜਾ ਜਾ ਵੜਦਾ ਏ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ ਕਦੀ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਏ ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲਿਆ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਦਾ ਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ईश्वर हमारे दिल में है उस दिल को संभालना पुलिसिया ने कहा है सब कुछ अंदर है उन्होंने कहा नातिया धोतिया रब मिलता ना मिले ਮਿਲਿਆ ਮੱਛੀਆਂ ਕੁਮੀਆਂ नहातियां धोतियां नहाने से धोने से अगर रब मिलता ना तो मछियों को मिलता या जो पानी में जानवर जो रहते हैं उनको मिलता क्योंकि वो हर वक्त पानी में रहते हैं हर वक्त नहाते रहते हैं नहाने धोने से भी रब नहीं मिलना नातिया धोतिया रब मिलता ते मिलया मछियां कुमियां जंगल बेले रब मिलता जंगल बे जंगल बेले रब मिलता ते मिले आ मिर्गा पखियां उन्होंने बोला जंगल में डेरा डाल के बैठने से भी रब नहीं मिलने वाला अगर जंगल में रब मिलता तो ये जो पक्षी पशु है वो जंगल में रहते हैं उनको मिल जाता पीर मिलता पीर बुल्ला पीर बुल्ला रब उनानू मिलता जेड़ा होंदियां दिल दिया सचिया एक स्टोरी याद आ गई मेरी कि ये हमारा तन बनने के लिए एक एग्जाम्पल ये शरीर बनने में एक कुर्ता बनने में कितना टाइम लगता है उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं उसके बाद में हमें सोचना है कि ये शरीर पाने में पता नहीं कितना समय लगेगा एक दिन दर्द रंजाना मजनू घर लैला दे जांदा की वेखे पैरान ले लीदा किलीते लटकाया मजनू साहब लेला के घर में जाते हैं और देखते हैं कि लेला का कुर्ता एक किली पे लटका हुआ तो मजनू साहब के दिमाग में आता है कि इस कुर्ते से पूछते हैं क्योंकि ये कुर्ता लेला तक कैसे पहुंचा एक दिन ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਦ ਰੰਜਾਨਾ ਮਜਨੂ ਘਰ ਲੈ ਲੀਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਵੇਖੇ ਪੈਰਾਨ ਲੈ ਲੀਦਾ ते लटकांदा कुर्ते कनु ਕਨੂੰ मजनू तय कि तू रुतबा पाया तुमने ये रुतबा कहां से पाया कि तेरे को लेला लेला पहनती कुर्ते कनु पुछिया मजनू तय कि तू रुतबा पाया कुर्ते विचू आवाज आई मेरी गल सुन जावे मजनू कुर्ते से एक आवाज आई हे मजनू साहब मेरी एक बात सुन के जाओ कि ये रुतबा मैंने कैसे पाया है उसके पीछे क्या क्या मेहनत है और क्या क्या मैंने सहन किया उसकी एक स्टोरी सुना रहा हूं तो कुर्ता मजनू साहब को अपनी स्टोरी सुनाता है पहले मैं एक दाना सीते घर जमेदार दे आया मैं एक छोटा सा दाना था और एक किसान के घर में आया पहले मैं एक दाना सी ते घर जमींदार दे आया जमींदार ने मेनू भाव विच गड़िया ते नरमा नाम रखाया जमींदार ने मेरे को जमीन में गाड़ के और उससे जो पेड़ निकला उसका नाम रखा गया नरमा जिसको हम रूई बोलते हैं जमींदार नु मेनू विच गड़िया ते नरमा नाम रखाया कुड़िया बुड़िया चुन पुन के जब नरमा खिलता है खेतों में वो कपास जब बाहर आती है तो छोटे छोटे बच्चे बूढ़े लोग बच्चियां सब जाके उसको चुनते थे कुड़िया बुढ़िया चुन पुन के मैंने झोली दे विच पाया झोली तू मैं फारिक होया वेलने तक पहुंचाया वेलने नू मैंने फंड फुंड के और अलग बीज बनाया मैं वेलने के पास मेरे को पहुंचाया गया और वहां से मेरे को इतनी मार मिली कि मेरा बीज अलग हो गया और मेरी रूई अलग हो गई सुरमा बना दिया गया मेरे वेल ने तू मैनू फंड फुंड के और अलग बीज बनाया वेल ने तू मैं फारिक होया वेल ने तू मैं फारिक होया तरकले तक पहुंचाया वेलने तू मैं फारिक होया चरखे तक पहुंचाया चरखे नू मैनू कत कुत के और निक्का सूत बनाया उसने मेरे धागे बना दिए जब मैं मेरे को एक ते बना दिया गया मेरा बीज अलग कर दिया गया उसके बाद में मेरे को चरखे के पास में पहुंचाया गया उसने मेरे पे बट चाड़ के छोटे छोटे धागे में मेरा रूप बदल दिया चरखे नू मैनु कतकुत के और चरखे नू मैनु कतकुत के जी निका सूत्र बनाया चरखे तू मैं फारिक होया जुलावे तक पहुंचाया जुलावे नू मैनु वण तुण के और कपड़ा ठीक बनाया अभी जुलावा साहब ने मेरे को बन के कपड़ा नाम रखा गया मेरा वहां मेरे धागों को ऐसे पुरोय गया और मेरा नाम कपड़ा हो गया जुलावे नू मैनु बण तुण के और कपड़ा ठीक बनाया चुलावे तू मैं फारिक होया दर्जी तक पहुंचाया दर्जी ने मैनु कट कुट के और अच्छा कमीज बनाया इतनी मुसीबत देख के मजनू मैं गल ले ली दे पाया सोचने की बात है कि एक कुर्ता पहनने के लिए इतनी मेहनत है तो ये तन रूपी कुर्ता पहनने के लिए क्या मेहनत होगी एक कुर्ता ये जो हम कपड़े का कुर्ता पहनते हैं उसके लिए इतनी मेहनत है तो ये हमारा जो तन का कुर्ता हमने पहना है उसके लिए कितनी मेहनत होगी बहुत बड़ी सोचने की बात है नहीं कौन हूं मैं या ये भी इंसान के चक्कर में आके मैं बोल रहा हूं मनुष्य हूं इंसान लेकिन पता नहीं ये नाम भी मनुष्य ने दिया इंसान ने दिया पता नहीं है जैसे मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ गया हमारे इंडिया का बच्चा अगर हम कहीं विदेशी धरती पे छोड़ देंगे वैसा ही हो जाएगा अगर मुसलमान का बच्चा हिंदू के घर में छोड़ देंगे तो वही सीखेगा अगर हिंदू का बच्चा मुसलमान के घर में छोड़ देंगे तो वो ही अकल तो सारा हम यहाँ आके सीखते हैं सारा हमें दिया जाता है और जब हम लेके आते हैं वो हम खो देते हैं की जाना मैं का सांकरी जामे दो ना समा प्रीतम को पतिया लिखू हर जो कोई हो तु विदेश तन मैं मन मैं नाय नन मैं ताको कहा संदेश ताको कहा संदेश तो वो तो हमारे तन में भी है मन में भी है और नैनन में भी है और सांस में भी है तो उसको संदेश लिखने की जरूरत नहीं है पुकारने की जरूरत नहीं है सिर्फ दिल की पुकार से आता है तो उसने भी ऐसे ही वादा किया है हमारे से को कहा ढूंढे रे बंदे को कहा ढूंढे रे बंदे को कहा मेरे बंदे मो मोको कहा ढूंढे बंदे मोको कहा ढूंढे बंदे लास्ट में कबीर ने कहा खोजी हुए तो तुरंत मिलू खोजी हुए तो तुरंत मिलू मैं एक पल की तलाश में एक पल की तलाश में एक पल की तलाश सोची हुए तो तुरंत मिलूं एक पल की तलाश में एक पल में मिल जाऊंगा मैं लेकिन आदमी खोजता है किसी ना किसी बहाने से कि हे ईश्वर मैं अब पैदल नहीं चल सकता हूं एक साइकिल चाहिए तो वो साइकिल ही देता है वो खुद नहीं आता और साइकिल की खोज मिटते ही मोटरसाइकिल चाहिए और मोटरसाइकिल की खोज मिटते ही अब तो वो चार चार टायर वाला व्हीकल चाहिए और ऐसे करती करती ये ख्वाहिशें बढ़ती जाती है ख्वाहिशें बढ़ती बढ़ती वो भी सोचता है ये तो मेरे को तो कभी नहीं मांगेगा यही मांगता रहेगा और वो साइकिलों में और बिल्डिंगों में जिंदगी गुजरता खोजी हुए तो तुरंत मिलू मैं खोजी हुए तो तुरंत मिलू मैं एक पल की तलाश में एक पल की तलाश में एक पल की तलाश में खोजी हुए तो तुरंत मिलू मैं खोजी होवे तो तुरंत मिलू मैं एक पल की तलाश में एक पल की तलाश में कह कबीर सुनो रे साधो कह कबीर सुनो रे साधो मैं तो हूँ विश्वास मेरे मैं तो हूँ विश्वास मेरे मोको कहा ढूंढे रे बंदे मोको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे को कहाँ ढूंढे रे बंदे में तो तेरे पास पास तो बहुत सही बात बताई है कि वो ईश्वर है वो विश्वास में है अगर किसी का विश्वास किसी पे है तो वो ईश्वर है उसके लिए और वो विश्वास आने के बाद में वो जब विश्वास आ जाता है तो फिर ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆ ਦਿਲ ਦਿਲਿਓ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆ ਦਿਲ ਦਿਲਿਓ ਲੱਗਣਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ तो इस प्रकार ये बाद में एक पल भी चैन आना मुश्किल हो जाता है नानक जी की एक बानी सुना रहा हूं आ ਭਲਾ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾਰ ਰਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਏ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਏ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਗੋਸਈਆਂ ਬੋਲੇ गो ਕੋਈ कोई अलाए ਕੋਈ ਵੇ ਤੀਰਤ ਕੋਈ ਹੱਜ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੇ ਤੀਰਤ ਕੋਈ करे पूजा कोई सिर निवावे कोई बोले पूजा कोई सिर निवावे कोई बोले राणा कोई खुदाए कोई बोले राणा कोई खुदाए कोई बोले घोसैया कोई अल्लाह कोई बोले घोसैया ਕਰਨ ਕਰਮ ਕਰੀ ਕਰੀ ਕਰਨ ਕਰਮ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾਰ ही पीवे आप पिलावे आप फिरे मतवाला आप ही बोवे आप ही काटे आप बने रखवाला आप ही बोवे आप ही काटे आप बने रखवाला अपनी गोदी आप ही खेले बनकर मोहन लाला अपनी गोदी आप ही खेले बनकर मोहन लाला कोई बोले रा में कोई खुदाए कोई बोले गोसैया कोई अल्लाह कोई बोले गोसैया कोई कहो ना का दिन भेद जाता कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई बोले गोसैया कोई अल्लाह कोई बोले गोसैया कोई अल्लाह कारण कर्म करी कृपा कृपा करी करण कर्म करी कृपा राम करी कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई बोले गोसैया कोई अदाए कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई बोले गोसैया कोई खुदाए कोई बोले कोई अल्लाह कोई बोले घोसिया कोई अल्लाह बहुत बहुत धन्यवाद ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇਰਾ ਵੇ ਬੰਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇਰਾ ਵੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੂੰ साथ साहिब एक तू साथ साहिब एक तू बंदा आशिक तेरा वे बंदा आशिक तेरा बंदा आशिक तेरा वे साथ साहिब एक तू तू तू साथ साहिब सुख मेरा मेट के मोहे करो रे दुख सुख मेरा मेट के मोहे करो रे भजन भाव विश्वास मेरे भजन भाव विश्वास मेरे भाव विश्वास

तुम्हारी क्या करूं सिर्फ यानी कि तेरी तारीफ क्या करूं मेरे पास तो वो शब्द भी नहीं है कि मैं तेरी तारीफ कर सकूं मैं तारीफ करने के काबिल भी नहीं हूं आ तुम्हारी तुम हो कहर कबीरा तुम हो कहर कबीरा रे खालक में मालक बसे रे खालक में खालिक नाम जनता का है इस जहान का है खालिक खालक में मालक बसे खालक में मालक बसे खालक में मालक बसे सोवतन रख कबीर सोवतन रख कबीर साचा सहेब एक तुम साचा साहेब एक साहेब एक साचा साहेब एक साचा साहेब एक साचा साहेब एक तू साचा साहिब एक तू अभी मैं एक ऐसा भजन सुना रहा हूं कि हमारे वहां एक संत हुए आचल राम जी जिन्होंने उस भजन को लिखा है और ऐसा लिखा है कि वो थोड़ा बहुत ऊपर अंदाज का भजन है कि देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो यारो मुझे मैं खुद मस्ती में आ गया तो उन्होंने इंगित किया कि इंसान को अपने आप को समझने की ज़रूरत है अगर वो अपने आप को देख ले तो सारी सुंदरताओं को भूल जाएगा सिर्फ अपने आप की सुंदरता पर नाज करेगा हर वक्त क्योंकि ऐसा बनाया गया उसको देखारिया पने आप कोरी देखारी अपने आप को शब्द है वो सुनने के काबिल है इस भजन के अब दीखता कोई नहीं दुनिया में ही मेरे सिवा दूरी का पर्दा जीता कोई नहीं दुनिया में मेरे सिवाय इतना सुंदर हूं मैं दूरी का पर्दा हटा जो मेरे और मेरे प्रेमी मेरे प्रियतम के बीच में जो दूरी थी और वो पर्दा जब हटा मेरी आंखों से तो क्या देखता हूं सारा भरम चला गया दूरी का पर्दा 阿本湖的。 सब रंग में चोला रंगारी सब रंग में चोला रंगा अचल राम जी कहते हैं अचल राम अब खुद ब खुद है महबूब मुझसे ना जुदा मेरा महबूब मेरे अंदर है, है देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो यारो मुझे मैं खुद मस्ती में आ गया अचल राम अब खुद ब खुद है महबूब मुझसे ना जुदा निज नूर में भरपूर हो अपने में आप समा गया देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया मैं यहाँ दिल्ली में आया हूं और दिल्ली अमीर खुसरो साहब की यहाँ दरगाह है तो मैं एक अमीर खुसरो साहब का कलाम यहाँ ज़रूर सुनाऊंगा क्योंकि वहां यहाँ स्वामी जी ने बुलाया है तो स्वामी जी की भी हाजिरी लग जाए और इसके साथ में थोड़ा सा मेरा भी लालच है कि उनके भी एक हाजिरी लग जाए uh अरे कागज चुन चुन खाविए मांस दोने नामत खाविए मोहे पिया मिलन की आस मोहे पिया मिलन की आस ਕਾਜਰ ਡਾਰੂ ਕਿਰਕਰਾ ਕਾਜਰ ਡਾਰੂ ਕਾਜਰ ਡਾਰੂ ਕਿਰਕਰਾ ਔਰ ਸੁਰਮਾ ਸਹਾ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿਨ ਨੈਣਨ ਮੈਂ ਪਿਆ ਬਸੇ जिन नैनन में पिया बसे दूजा को ना समा तो दो प्रकार की डोलियां सजाई जाती है उस डोली में से इस जो मैं एक अमीर खुसरो साहब का एक कलाम सुना रहा हूं आपको इसके दो अर्थ हैं चली पी के नगर बनठन के दुल्हन चली पी के नगर बनठन के दुल्हन चली पी के नगर ठन के दुल्हन मोरा माए कैसे जी घबरावत है चली पी के नगर बनठन के दुल्हन चली पी के नगर बनठन के दुल्हन मोरा मैं कैसे जी घबरावत है बन ठन के दुल्हन चली पिए बन ठन के दुल्हन चली पिए कपूर से मांग भरो मोहे भाग सुहाग की आई घड़ी सखी काहे पछाड़े खावत हो चली पी के नगर बंधन के दुल्हन मोरा मैं कैसे जी घबरावत वो सखियों के बोल रही है कि अभी शर्म शंका करने की जरूरत नहीं है मुझे नेला के दुल्हन बनाओ और सजाओ क्योंकि मैं मेरे पी के घर में जा रही हूं मोरे बाबुल को More babyola, sa jane bidonde, more babule, Codo, sa zani more baby, codola, sa già more. मोरे बीरन को कंधा लगाने दीदो मोरे बीरन को को कंधा लगाने दीदो अब तो साचे नगरिया को कूच भयो अब तो साचे नगरिया को कूच भयो अब तो साचे नगरिया कूच भयो अरे कूच भयो भयो अब तो साचे नगरिया कुछ भयो ये तो झूठा पिहरवा कहलावत है ये तो झूठा पिहरवा कहलावत है ये तो झूठा पिहरवा कहलावत है चल के नगर पनठन के दुल्हन चली पी के नगर बन ठन के दुल्हन मोरा मैं कैसे बात बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने इतना प्यार से सुन रहे हो कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि बंद हो जाऊं मेरा भी मन हो रहा है कि मैं सुनाता रहूं आपको जी आठ बजे तक तो सुनाऊंगा वो तो पक्का ही है <laughs> मैं सोच रहा हूं साढ़े आठ बजे की हमारे एक फरमाइश आई है कि राजस्थानी फोक सुनाया जाए तो मैं सुना रहा हूं केसरिया बालम आओ नहीं पधारो मारे देश केसरिया बालम कोई आदमी नहीं है वो केसरिया बालम है कुछ नहीं जो होवत सब तो केसरिया केसरिया केसरिया केसरिया केसरिया बाला केसरिया केसरिया केसरिया Mother. આપ આલમ આવો નહીં પધારો મારે દેશ અરે પ્રીતમ પ્રીત લગાય કે અરે बसो हमारी नागरी वो है सुंदर मुख दिखलाए आप जैसा मुख देख के मेरा ऐसे भी कुछ खाने को दिल नहीं करता आप यहीं बैठे रहो और मेरे को ये जो आपकी सुंदरता है बस इसको देख देख के देख देख के मैं उम्र गुजार दू और उसके लिए क्या कर रहे हैं तन रबाब मनती गरी रबाब नाम एक इंस्ट्रूमेंट का एक साज है रबाब वो तन है वो रबाब है मन तीगरी जो तार कसा जाता है जिसके ऊपर तन रबाब मन तीगरी और रगे भाई सब तार मेरी एक एक नस है वो तार की तरह आवाज दे रही है जैसे वीणा बजती है तन रबाब मन तीगरी और रगे भाई सब तार मोरा रूम रूम सुर देत है moral बाजत नाम तिहार बाजत नाम तिहार मोरा रूम रूम सुर देत है बाजत नाम तिहार पधारो अच्छा मीरा जी का सुनाऊंगा जरूर का एक भजन सुना रहा हूं कोई कई और सांवरियो घर आवन की घर आवन की मन भावन की कोई कई और सांवरियो घर आवन की मीरा एक उम्मीद लगा के बैठी है कि मेरे को सांवरिया बोल के गया वापिस आएगा और उसी उम्मीद पे ये भजन जानती प्रीत किए दुख होय नगर डिंडोरा पीटती प्रीत ना करियो मीरा भाई ने कहा ये सब पतियां लिखूं मैं शाम को पतियां पतियां पतियां पतियां लिखूं मैं शाम को तुम्हारो ही हिंगड़ो सी बात लिखूं शाम को चक्कर में पड़ गई मेरा भाई पतियां लिखूं मैं शाम को मारो हिमड़ो उलझ गयो कि कैसे लिखा जाए पता नहीं नाराज नहीं हो जाए चलो पतियां लिखूं मैं शाम को तुम्हारो हिमड़ो उलझ गयो नैना में जलमावे नहीं मारो कागज भी करियो जादू कर गयो मैं क्या करूं वो रानी जी ने पूछा मीरा से तुम ऐसे क्यों कर रही हो तुम रानी हो तो उसने कहा मेरे बस की बात नहीं है सांवरी हो जादू कर गयो मैं क्या करूं मेरे बस की बात नहीं है जो मैंने दर्शन किए हैं जो मेरे को लगन लगी है जो मैंने देखा है उसको आप नहीं समझ सकते हो इसलिए आपके सामने मैं कोई बयान नहीं कर सकती हूँ सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ अरे मोहन मोहन जादू अरे मुरली वालो जादू अरे कनुड़ो कामण कर गया मैं क्या करूं बन जा अरे करोड़ों का कर गया मैं क्या अरे सवरिया जा अरे मनमोहन जा कर गया अरे कनड़ो कामण हे बंसी वालो जादू कर गयो मैं क्या कर अरे सवारियों जादू कर गयो मैं क्या क्या रे मैं क्या करूँ रे क्या रे क्या अरे सवरियों जादू ਬਾਜੂ ਬੰਦ ਨਗੀਨਾ ਬਾਜੂ ਬੰਦ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत प्यार से सुना बहुत प्रेम से सुना अभी मैं पिछले चार पाँच दिन पहले आया हूँ फ्रांस से तो संगीत में मैंने समझा कि भाषा की ज़रूरत नहीं है सिर्फ फीलिंग की ज़रूरत है अगर वो फीलिंग आती है तो सब श्रोताओं को भी अच्छा लगता है और वो लोग समझते थे कि मैं कुछ संतों की वाणियाँ गा रहा हूँ तो वो लोग अंग्रेजी में आके मेरे को बोलते थे कि हमें ऐसा लगा है कि आपके संगीत में जो हमें असर हो रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा हमें तो वो भी वो यहाँ भी देख रहा हूँ मैं अभी वो भी लोग ऐसे तालियां बजाते थे और मैं सोचता था कि मेरी लैंग्वेज तो इनको समझ में नहीं आती है लेकिन बाद में जब वो लोग आके अपने कमेंट्स करते थे मेरे पे तो मेरे को पता चलता था कि संगीत में शब्दों की ज़रूरत नहीं है जी जी ज़रूर गाऊंगा थोड़ा सा नहीं पूरा गाऊंगा <laughs> जी ये मैं अभी गा रहा हूँ लास्ट गाना होगा क्योंकि छाप तिलक गा रहा हूँ मैं तो मेरी छाप तिलक सब छीनी जाए और मैं एकदम किसी से नैना मिला के एकदम दीवाना हो जाऊं और ये इस कार्यक्रम के लिए मैं बोलूंगा कि एक बार स्वामी जी आत्मानंदा जी ने मेरे पे बहुत ये मैं उनको नमन करता हूँ कि ऐसी जगह पे मेरे को फिर मौका दिया और ऐसे मेरे को सुनने वाले मिले जिनसे मेरा भी दिल एकदम है कि मैं गाता रहूँ यहाँ और ये महफिल ऐसे ही चलती रहे बना के मैं जो पी के पास गई अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी छवि बना के जो मैं पी के पास गई अपनी छवि बना के मैं जो पी के पास गई जब छवि देखी पीव की अपनी भूल गई सज धज के पी के पास गई कि मेरे को देख के मेरा जो बनाने वाला है जो मेरे को चाहता है वो मेरे पे एकदम कुर्बान हो जाए और जब उस पिया की छवि देखी तो खुद की छवि याद ही नहीं रही तो अब देखो उस सुंदरता का क्या बखान करें कैसी सुंदरता होगी वो तू तो आप ही चतुर खिलाड़ी तू तो आप ही चतुर खिलाड़ी निशंक माँ के संग खोट हो जाए अरे बालम चोट नजरिया मारे जियरा लोट पोट हो जाए आओ सखी मिल चौसर खेलें जो पी अपने के साथ आवो सखी मिल चोसर खेले जो पी अपने के साथ जी तू तो पिया मुझे मिलेंगे हारू तो पी के साथ बाईस के टोक ने मैं क्यों रक्स रोक लू वाह इसके रो टोकने पे मैं क्यों रक्स रोक लू उनका हुक्म है कि अभी नाचते रहो उनका हुक्म है कि अभी नाचते रहो छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे ने मिला के छाप तिलक सब चीन ली रे मोसे लेना मिला के छाप तिलक सब चीन ली रे मोसे लेना मिला के मोसे लेना मिला के मोसे लेना मिला के छाप तिलक सब चीन ली रे मोसे लेना मिला के छाप तिलक सब छीन लीरे मोसे नैना मिला के नैना मिला के सेना मिला के नैना नैना मिला के सेना मिला के मोसे नैना मिला के मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीन लीरे मोसे ना मिला के साप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला के बल बल जाम बल बल जाम बल बल जाम ਤੋਰੇ ਰੰਗ ਰਚਵਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾ ਮੈਂ ਤੋਰੇ ਰੰਗ ਰਚਵਾ ਮੈਂ ਤੋਰੇ ਰੰਗ ਮੈਂ ਤੋਰੇ ਰੰਗ ਰਚਵਾ ਮੈਂ ਤੋਰੇ ਰੰਗ ਰਚਵਾ ਮੈਂ ਤੋਰੇ ਰੰਗ ਰਚਵਾ ਤੋਰੇ ਰੰਗ ਰਚਵਾ ਮੈਂ ਤੋਰੇ ਰੰਗ ਰਚਵਾ ਮੈਂ ਤੋਰੇ ऐसी तू रंग देखे रंग नही छूटे ऐसी तू रंग देखे रंग नही छूटे धोबिया रोए चाहे सारी उमरिया लाल ना रंगाऊ में तो हरी ना रंगाऊंगी अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया बिना रंगाए में तो घर नहीं जाऊंगी बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया बल बल जा मैं तोरे रंग रजवा अपनी सी रंगली रे मोरे ना मिला के अपनी सी रंगली मिला के छाप तिलक सब छीन लीरे मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीन लीरे मोसे नैना मिला के गोरी गोरी भैया गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया चूड़ियन की लाज तुम्हें जो पहन लई अब उतरत ना चुरियन की लाज तुम्हें रखना जो पहन लई अब उतरत ना मोरा भाग सुहाग तुम्ही हो पिया मोरा भाग सुहाग तुम्ही हो पिया मोरी लाज रखो मोरे तुम ही पिया मोरी लाज रखो मोरे तुम ही पिया मोरी लाज रखो मोरे तुम ही पिया गोरी गोरी बैया हरी हरी छुरिया गोरी गोरी बैया हरी हरी छुरिया गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया बैया पकड़ हरली नीरे मोस लेना भैया पकड़ हरली मोसे नैना मिला के भैया पकड़ हरली आप तिलक सब दीन लीरे मोसे नैना मिला के आप तिलक सब दीन लीरे मोसे नैना मिला के आंखों से कुछ ऐसी अकीदत हो गई उनकी मस्त आंखों से कुछ ऐसी अकीदत हो गई और जाम मजहब बन गया सहबा सरियत हो गई पहले पीते थे कोई माकूल मौका देखकर पहले पीते थे कोई माकूल मौका देखकर अरे रफ्ता रफ्ता बेसब पीने की आदत हो गई प्रेम भटी का मधुआ पिला के प्रेम भटी का मधुआ पिला के मतवारी कर दी रे बोसे नैना मिला के हे मतवारी कर दी रे बोसे नैना मिला के मतवारी कर दी रे बोसे मिला के मतवारी कर नबी रे तेरे ना मिला खुसरो निजाम के दहली तो दुल्हन बनी और दूल्हा निजामुद्दीन सारी हिंद के बादशाह मोरे ख्वाजा मोहिनुद्दीन शाम होते ही शाम होते ही चरागों को बुझा देता हूं लोग शाम को चराग जलाते हैं लेकिन इधर शायर शाम होते ही चरागों को बुझा देता हूं और दिल ही काफी है तेरी याद में चलने के खुशरो निजाम पल पल जाइयो खुशरो निजाम पल पल जाइयो पल पल बल जाइए जाइए खुसरो निजाम पे बल बल जाइए मोहे सुहा गन की रे मुझसे नैना मिला के मोहे सुहा गन की नीरे मुझसे नैना मिला के सब छीन ली रे मोसे मिला के मोसे मिला के मुझसे देना मिला के मुझसे देना मिला के मुझसे देना मिला के मुझसे देना मिला के मुझसे देना मिला के मुझसे देना बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और स्वामी जी का शुक्रिया रामकृष्णा मिशन का शुक्रिया कि हमारे को इतना अच्छा आपको भी मौका दिया और मुझे भी मौका दिया आई रिक्वेस्ट रिवियर स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज टू से फ्यू वर्ड्स एंड प्रेजेंट मेमेंटोज टू आवर म्यूजिशियंस ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्री इतिराजाय विवेकानन्दसूर्ये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे आप सबको याद है मथुर बाबू जब किसी सब बुलाते हैं हमेशा ही वो ठाकुर की तरफ देखते रहते हैं ठाकुर की मुंह में जो एक्सप्रेशन होता था जितनी पसंद होता था उसके अनुसार वो इनाम देते थे दिल्ली में भी ऑडियंस हमें हमेशा मेरे को देखना पड़ेगा सब पता चलेगा कितना अच्छा गाना है आज जो आप सब बैठे हुए हैं इसी से पता लगता है ऑल ऑफ यू मस्ट हैव इमेंसली इन्जॉयड इट गीत की ऐसा प्रभाव है जब साधक सब गाते हैं वो सबको हृदय स्पर्श करता है सबको एक आध्यात्मिक स्पुरण होता है इसीलिए द wonderful soul stirring music of Muktiarji has taken us to a different world altogether. It's impossible to explain in words the feelings that all of us got today. We only pray to Sri Sri Thakur Mahan Swami Ji and जिस देवता की उन्होंने उपासना करते हैं लेट दम ऑल पोर देयर blessings on him so that he continues to delight the sadhakas all over the world. Bahat bahat शुक्रिया मुख्तियार जी God will give us another opportunity to listen to Him maybe in future. Now with this, this wonderful program comes to a close. याद रखिए टुमारो वी हैव लक्ष्मी पूजा फ्रॉम 7:30 p.m. 10 बजे के पहले ख़त्म हो जाएगा मेट्रो की कोई असुविधा नहीं होगा सब आ जाइए